चौबीसवा चलेंगे इधानी सर्वकर्ण हीन से सर्वज्ञता स्वस्या सर्वकर्णहीन से सर्वे कर्णे हीनम ब्रह्म कोई इंद्रिय नहीं है कर्ण प्रमा कर्ण प्रमाण प्रमाण से ही ज्ञान होता है किंतु ब्रह्म करण रहित है ही न है कोई करण नहीं ऐसा होने पर भी सर्वज्ञ है सर्वज्ञता अस्वस्य और स्व कहन से जो पहले बता दिया ब्रह्म वही अपना स्वरूप है स्वस्य तुम आह कर्ण ही न होने पर भी स्वरूप सर्वज्ञ एक तो ज्ञानी सर्वज्ञ कहा जाता है सबको ब्रह्म रूप से जानता है तो सर्वज्ञ सर्वम जानाति सर्वम जानाति क्या था ब्रह्म वास्तव स्वरूप से जानता है वास्तव स्वरूप है सबका ब्रह्म उसको जानता है ज्ञानी और जो अविद्या से नाम रूप अलग अलग है अलग अलग नाम अलग अलग रूप उसको जानने की आवश्यकता नहीं मिथ्या है सबको ब्रह्म रूप से जानता है और ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वम जानाते थी सर्वज्ञ सामान्य रूप से सबका ज्ञान है और विशेष ज्ञान भी है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर व्यवहार में उस जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करता कर्म फल दाता कौन क्या कर्म करता है पाप पुण्य किसको क्या फल मिलेगा सब जानने वाले तो विशेष रूप से भी जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ और सर्ववित दो कहते ईश्वर को सर्वज्ञ भी है और सर्ववित्त सामान्य रूप से जानने पर सर्वज्ञ हो गया और विशेष रूप से भी ज्ञान है सर्वविद कहते हैं और ब्रह्म ज्ञानी सबको ब्रह्म रूप से जानता है और कहीं कहीं इसे सर्वज्ञों के अर्थ करते सर्वम च तद्ज्ञम च सर्वस्व ज्ञश्च ज्ञानी सर्वरूप है और ज्ञ रूप चिद रूप ज्ञान रूप है सर्वज्ञ तो सबको जानता है तो ब्रह्म रूप से जानता है विशेष रूप से नहीं और ईश्वर सर्वज्ञ है सर्ववित्य सामान्य रूप से विशेष रूप से जानते हैं और शुद्ध चेतन सर्वम च तद्ज्ञम च वो सर्वरूह ही है और ज्ञान रूप ही है अपाणी पादो हम अचिंत्य शक्ति ही पश्याम्य चक्षुष शृणोम्य कर्म अहम बीजाना विविक्त रूपो न चास्ति वेत्ता मम चित सदा हम एक अद्वितीय तत्व पहले बता दिया इसे तत्शब्द भी कहा गया अथम शब्द भी कहा गया स कहा गया अहम कहा गया पानी पाद रहित है हाथ पर नहीं तो भी चलने वाला है ग्रहण करने वाला है अहम अचिंत्य शक्ति ही अचिंत्या शक्ति रस्य स अचिंत्य शक्ति शक्ति अचिंत्य है अनिर्वचनीय है पश्यामि पश्यामि अचक्षु सस्नोम्य कर्म अचक्षुषण पश्यामि चक्षु के बिना भी अकर्ण कर्ण रहित तो होकर के सुनता है अहम बीजाना में विविक्त रूप अहम बीजाना में सबको जानता हूँ विविक्त रूप विविक्त रूप है तो पृथक रूप है बुद्धि आदि से अलग सर्व विवितम रूपम यस्य बुद्धि मन इंद्रिया आदि से विलक्षण रूप है मेरा चिद्रूप है दृश्य प्रपंच से विलक्षण है न चास्ति वेत्ता मम चित सदा हम न च अस्ति वेत्ता मम आत्मस्वरूप चिद्रूप है उसका ज्ञाता मेरा ज्ञाता कोई दूसरा है ही नहीं सदा चित अहम चिद रूप में हूँ सदा एक रूप है चिद रूप ही है अन्य जो रूप दिखता है सब कल्पित है चिद्रूप ही अव्यभिचारी पारमार्थिक स्वरूप है टीका में पाद का अर्थ पाणीपाद ही न पाद हाथ पर रहित है अहम व्याख्यातम ही प्रत्येक स्वरूप ही अभिन्न ब्रह्म अभिन्न अचिंत्य शक्ति दुर्बोध शक्ति दुर्बोधा शक्ति शक्ति का ज्ञान सरल से नहीं होता है ब्रह्म से शक्ति भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं उभय भी नहीं हो सकती है इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं शक्ति सदरूप नहीं असद रूप नहीं उभय नहीं अनिर्वचनीय इसलिए अचिंत्य शक्ति एवं भूतोपि जग जवनो ग्रहिता पा हाथ पैर नहीं होने पर भी जवन जो गत्यर्थक चलने वाला गत्यर्थक है और ग्रहित हाथ नहीं होने पर भी सबको ग्रहण कर लेता है सारे पदार्थ अध्यस्त है अध्यस्त को ग्रहण करने के लिए कोई हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है कोई अपने से भिन्न वस्तु है उसको ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा पैर से चलना पड़ेगा अध्यस्त वस्तु तो अधिष्ठान को छोड़ कर कहीं अलग है ही नहीं इसलिए अध्यस्त वस्तु होने से परमात्मा सब को शुद्ध स्वरूप अधिष्ठान सबको ग्रहण करने वाला सर्वत्र व्याप्त है पश्यामी विविधम प्रपंच जातम अवगछामी सबको जानते हैं प्रकाश करते हैं ज्ञान रूपे अवलोकयामी अचक्षुष चक्षुरहीनस चक्षुरहित तो होकर के सबको जानता है उसको प्रकाश करने के लिए चक्षु की आवश्यकता ही नहीं है अध्यस्त वस्तु का प्रकाश अधिष्ठान से ही हो जाता है इसे चक्षु की आवश्यकता है चक्षु होना स अचक्षु होकर के भी दृष्टा को प्रकाश करने वाला श्रृणमी श्रवणम करोमी अकर्ण सा कर्ण रहित कर्ण रहित होकर के सुनने वाला है अहम व्याख्यातम अहम शब्द का अर्थ तो पहले बता दिया दृग रूप चेतन बीजाना में बीजाना में विविधम जाना में प्रपंच जातम अवगछा सारे प्रपंच को जानता हूँ स्वरूप यही सब को जानना है सब को प्रकाश करने वाला चिद रूप है विविक्त रूप विविक्त है पृथक बुद्धियादि पृथक रूप <clears throat> बुद्धियादि से पृथक रूपम यसे बहुबरी पृथक रूप न चास्ति वेत्ता नास्ते वेत्ता उसका कोई ज्ञाता कोई है ही नहीं कर्म कर्तृभावेन अवगंता मम आनंद आत्मनो कर्म कर्तृभाव उसको जानने वाला ब्रह्म का ज्ञान जब होता है कर्म कर्तृभाव न नहीं मैं ज्ञाता ब्रह्म ज्ञेय कर्म ऐसा नहीं घटम पश्यामी घट होता है कर्म और मैं कर्ता किंतु ब्रह्म ज्ञान जब होगा कर्ता ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म से भिन्न ऐसा नहीं स्वयं ही ब्रह्म है जब स्वयं दशम है कहें तुम दशम हो तो दसम को जान लिया दसम तो स्वयं है वो कर्म करते नहीं वो केवल दसम विषय का अज्ञान नष्ट हो गया अहम दसम ये ज्ञान है कर्म कर्तृभावे न अवगंता कर्म कर्तृभावे न अवगंता नास्ति के साथ संबंध कोई ज्ञाता है ही नहीं कस्य मम आनंद आत्मा न भेद रहित मैं मैं आनंद रूप है आनंद आत्मा ऐसे आनंद स्वरूप भेद रहित तो, स्वगत सजाते विजाते कोई भेद नहीं है निरवय होने से स्वगत भेद नहीं है और मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं तो सजाते भेद नहीं और बीजाते भेद चिद रूप सदरूप आत्मा से बीजाते तो असत हो जाएगा सत से भिन्न असत है जो तुच्छ है वो सत्ता ही नहीं उसका भेद कहाँ होगा इसलिए स्वगत सजाते बीजाते कोई भेद नहीं चित स्वकाश बोध स्वभाव चिद रूप है स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश बोध ज्ञान स्वभाव है वो बोध जो है प्रकाश बोध रूप प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश है सदा अहम चिद रूप है सदा का तो सर्वदा हम दृक रूप चेतन में हूँ सबको प्रकाश करने वाला सर्वज्ञ है सारे अध्यस्त है एक दृग रूप चेतन है और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है जहाँ अध्यस्त है वहाँ अधिष्ठान है अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु का भान होता है अधिष्ठान के प्रकाश से भी उसका प्रकाश होता है अधिष्ठान के बिना उसका प्रकाश नहीं होगा रज यदि नहीं दिखे ढाक दे तो सर्प नहीं दिखेगा अधिष्ठान का प्रकाश ही प्रकाशित है इसे सब का प्रकाश के सब का ज्ञाता है इधानी सर्वशास्त्र प्रतिपाद्य से आत्मन सर्व विकाराभाव दर्शयती वही दृग रूप आत्मा है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म सर्वशास्त्र प्रतिपाद्य सारे शास्त्र के द्वारा उसी का ही प्रतिपादन किया जाता है उसका प्रतिपादन करने के लिए सारे सर्वे वेदायत पदमामनते कहा तपांसी च सर्वाणी यत पदम बदंती सब एक तत्व को बताने के लिए सारे शास्त्र है वेदत है और पुराण भी है इतिहास पुराण सब वेद में कर्म कांड भी है तो कर्म कांड साक्षात प्रतिपादन नहीं करते परंपरा से कर्म कांड से अंतकोण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होगा और कर्म कांड है कर्मयोग और ज्ञान योग दो योग है कर्मयोग होता है साधन ज्ञान योग होता है उसका साध्य और ज्ञान युग से ज्ञान होने पर मुख्य होता है तो कर्म कांड भी परंपरा से वैराग्य अंतकोण शुद्धि जिज्ञासा जनन द्वारा ज्ञान का साधन होकर के मोक्ष का भी साधन हो जाता है और जितने पुराण है इतिहास उसी तत्व को बताने के लिए जो ब्रह्मसूत्र के रचयिता व्यास जी उन्होंने ही अष्टादश पुराण की रचना की उसी तत्व को जो उत्तर मीमांसा में कहा शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्म उसको ही उपदेश करने के लिए पुराण आख्यायिका के माध्यम से जितने सब पुराण में विभिन्न आख्यायिका है तो उसके माध्यम से उसी तत्व को बताना यही उद्देश्य है कथा आख्यायिका तो है तात्पर्य तो केवल उसी तत्व को बताना गुड़ जिहवी का न्याय कहते हैं औषध कौड़ी औषधि खिलाने के लिए बच्चे को थोड़ा जीवा में गुड़ चटा देते हैं मीठा लगता है वो चाटते चाटते कड़वी दवाई दे देते हैं और चाटते समय वो दवाई ले लिया बाद में कौड़ा पता चलते समय वो तो दवाई ले लिया इसी प्रकार कथा कह करके प्ररोचना करके प्रश्न होकर बैठते हैं अत्यंत जिज्ञासा नहीं हो शुद्ध नहीं हो तो वेदांत श्रवण करते समय बहुत लोग सो जाते हैं नींद लग जाती है आलस्य तंद्रा जिज्ञासा जिसकी होगी नहीं होगी प्रमाद हो तो भी लग जाता है जिज्ञासा हो किंतु कहीं प्रमाद हो अथवा कोई दीवार को ठेस करके बैठे तो नींद आ जाएगी इसलिए थोड़ा सावधान से बैठना होता है तमोगुण कभी हो जाए रजगुण हो जाए तो नींद लग जाती है इसलिए पुराने कथा के माध्यम से थोड़ा बीच बीच में भजन कीर्तन कराएंगे तो कथा सुनाएंगे चुटकुली तो इसे ऐसे करने के बाद थोड़ा तत्पर हो गया फिर उसमें वेदांत का उपदेश है भागवत में वेदांत का तत्व बहुत स्थान में अच्छे रूप से है केवल भागवत में सब पुराण में है तो कथा करने वाले उसको छोड़कर खाली कथा करते हैं वो अलग बात है किंतु की भागवत आया जो मूल भागवत विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया तो इस क्रम से चार श्लोक में सारे तत्व है उसको बताने के लिए बहुत कथा है बहुत है बड़े किंतु चार श्लोक में कह दिया यही अहम एवं समय आगे कह करके एक अद्वितीय तत्व है उसका ही उपदेश है सारे शत्र शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य है आत्मा ब्रह्म उसको ही प्रतिपादन करने के लिए अनेक प्रक्रिया समझने के लिए बड़ा कठिन होता है किंतु शास्त्र प्रतिपाद्य वही एक ब्रह्म है किंतु उसमें कोई विकार कार्य है ही नहीं सारा जगत दिखता है वो कहाँ से आया शिष्य पूछता है तो एक अद्वितीय ब्रह्म को बताने के लिए उसे सृष्टि कही गई सृष्टि में कारण में ही कार्य रहता है उपादान कारण में तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म में ही है अन्यत्र नहीं है अन्यत्र नहीं ब्रह्म में ऐसा निश्चय होने के बाद कार्य कारण से अलग नहीं होता है जिस प्रकार घट मिट्टी से भिन्न नहीं पट तंतु से भिन्न नहीं भूषण सोना से बनेंगे भूषण सोन सुवर्ण से भिन्न नहीं है इसी प्रकार पृथ्वी में जितने पेड़ पौधे पत्थर आदि सब पृथ्वी रूप है पृथ्वी कार्य तो उसके कारण जल से भिन्न नहीं जल कार्य है तेज से भिन्न नहीं ऐसे कह करके अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं नाम रूप केवल कल्पित है अलग अलग दिखता है नाम रूप से अविद्या से कल्पित नाम रूप उसे नाम रूप उपाधि से अनेक दिखता है किंतु अधिष्ठान चिद रूप एक है उसको बताने के लिए एक प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद न्याय अध्यारोप है आकाश आदि की सृष्टि कही गई अपवाद है नेत नेति करके सबको निषेध करके अद्वितीय ब्रह्म वाचारम्भण विकार नाम ध्येय कह करके एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य ही वही प्रतिपादन करना है विकार कुछ है ही नहीं सारे सृष्टि कह करके सब का निषेध कर देने से एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होगा सर्व विकार अभाव थी यदि विकार वास्तव हो जाए तो उसका अभाव नहीं होगा वास्तव नहीं होने से अज्ञान के कारण दिखता है है ही नहीं अज्ञान से जो प्रतीत होता है उसकी सत्ता भ्रांति काल में भी नहीं पहले नहीं बाद में नहीं भ्रम काल में भी नहीं प्रतीत होती तो प्रतीत होने पर भी सत्ता नहीं है रज्जु में सर्प दिखता है सर्प देखते समय भी सर्प वहाँ है ही नहीं सर्प हो तो सबको दिखना चाहिए सर्प है ही नहीं इसको दिखाते वेदीर अनेक रहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाह वेदीर अनेक अनेक वेद से अनेक वेद है वेद है मंत्र बहुत है अनेक ही अहम एव वेद्य अहम एव मैं ही वेद्य हूँ एक दीर्घ रूप चेतना एक ही तत्व है वेद्य ज्ञ अनेक नहीं है अनेक ज्ञ नहीं है एक राम तत्व रामायण में तो एक राम है ही ब्रह्म है और उनके पिता क्या उनके पिता के पिता क्या उनके पिता के पिता उनके माता के माता के माता के माता के माता के नाम कोई बोल सकता है <laughs> दो तीन चार पीढ़ी के आगे दो पीढ़ी को भी मुश्किल है <laughs> माता की माता कौन है उनकी फिर माता कौन नहीं बता सकते ये प्रतिपाद्य है ही नहीं और नहीं जानने वाले उसमें ही पूछते मैं पूछता हूँ बताओ वो कैसे उनका पिता वो कैसे का उनकी माता कौन बताओ ऐसे में ही चल जाते हैं वो कुछ हो नहीं वो उसके माध्यम से एक ही तत्व राम तत्व वेद्य है ब्रह्म इसी प्रकार सर्वत्र कहीं राम कहीं कृष्ण कहीं शिव कहीं विष्णु कुछ कुछ नाम कहीं गणेश कहीं देवी जितने नाम है सब नाम के द्वारा एक अद्वितीय तत्व ही वेद्य है <clears throat> सब प्राण में देखो अहम है वेद्य ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामी कह कर भगवान कहते येयम यत वही ब्रह्म है न सत्य न सद असत नहीं असत नहीं यश ज्ञात मृत्यु तुझको तो जानने पर मोक्ष होता है एक तत्व है ज्ञेयम अहम एव वेद्य ये एक ही तत्व ज्ञेय और बाकी कुछ भी नहीं इसलिए बाह्य प्रपंच को जानने के लिए प्रया, प्रया परिश्रम प्रयास करने की आवश्यकता नहीं कोई जरूरत नहीं मिथ्या सब है क्या जानने का मिथ्या में स्वप्न में क्या क्या स्वप्न देखा कोई बोले काल में नहीं इसलिए स्वप्न देखा कोई कोई व्यक्ति को बताएंगे मैं स्वप्न देखा क्या देखा अब बोलते जाएंगे बहुत सुनते जाओ क्या मिलेगा कोई अपने क्या क्या स्वप्न देखा किसने कभी रख लेकर रखा है रखे ना लेकर के बीच बीच में कभी देखना पड़ता है कभी क्या दिखा था स्वप्न पिछले साल क्या दिखा था आज क्या देखा ऐसा करना पड़ता है कोई एक भी नहीं करते हैं सब लोग डायरी लिखते हैं ना उसका कोई नोट करता है आज ये सपना देखा कल ऐसा सपना देखा तो उसे एक रात में भी कितने सपन देखे थे उठने के बाद सब याद नहीं रहता है जितने सपन देखते सब याद रहता है नहीं भूल जाता है तुच्छ बुद्धि उसमें कुछ है ही नहीं तुच्छ है मतलब ही नहीं इसी प्रकार ये जगत सपना जैसे उसको तुच्छ उसको क्या जानना है क्या है अब बहुत लोग खबर सुनो पढ़ो जानो क्या हो गया कहाँ भूकंप हो गया पता चले नहीं तो हमको कहेंगे भूकंप हो जाएगा मर जाएंगे इसलिए थोड़ा कम से कम मालूम हो जाए वहाँ वहाँ भूकंप हुआ तो सावधान हो जाएंगे ना कि किस किस स्थान पे भूकंप हुआ जो मालूम हो गया तो सावधान रहेंगे यहाँ भूकंप हुआ तो घर से निकल जाएंगे और यदि पता नहीं चलेगा तो मर जाएंगे <laughs> पता चलेगा तो भूकंप से बच जाएंगे बच जाएंगे <laughs> वहाँ भूकंप होकर के एक लाख लोग मर गए पता चलेगा तो यहाँ भूकंप यदि एक दिन के बाद एक घंटा के बाद हो तो जानने वाले मरेगा <laughs> जानने वाला बच जाएगा इसी प्रकार गर्मी ठंडी वहाँ इतनी ठंडी हो गई जानेंगे तो ठंडी लगेगी हाँ किस थाने में ठंडी कम है कहीं गर्मी है यदि पता चले तो आपको ठंडी नहीं लगेगी ना लगेगी <laughs> तो पता कर दे कितने ठंडी हो गई गर्मी के समय कहे वहाँ इतनी गर्मी बढ़ी वहाँ इतनी गर्मी बढ़ी और एक विद्वान पंडित थे वाराणसी में अब विद्यार्थी डांटते बोलते हाँ, हाँ पता करो थोड़ा नहीं तो यहाँ पर नहीं गर्मी लगेगी वहाँ कितने गर्मी तो पता चले तो कम से कम हमको गर्मी नहीं लगेगी थोड़ा बता देना रोज <laughs> नहीं तो पता चलेगा तो गर्मी ज़्यादा लगती है अब पता चले तो गर्मी गर्मी के समय गर्मी लगेगी ठंडी के समय पता चले यहाँ कितने डिग्री ठंडी है तो ठंडी थोड़ी थोड़ी तो कम हो जाएगी <laughs> कुछ नहीं होगा जितने ठंडी गर्मी है देख लेना भोग लेना कहाँ कितने गर्मी ठंडी हाँ ठीक हो गया ज़्यादा उसमें आग्रह उसमें देखना कोई ज़रूरत नहीं एक ही तत्व वेद्य है उसी को जानना है बाकी सब को जानना देखना सुनने की जो इच्छा है वो समाप्त तो हो जाए तो साक्षात्कार ज्ञान होगा जब तक ये प्रपंच में भटकने की इच्छा है घूमने की इच्छा है देखने के लिए दौड़ने की इच्छा है तब तक आत्म तत्व से दूर भागता है संसार में भाग रहा है सब घूम फिर करके अंत में एक तत्व तीर्थाटन करने पर भी वैराग्य होता है अंत में फिर एक आत्म तत्व को जानना उसी को ही अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विधे चाहम वेदांत कृत वेदांत को करने वाला सब बनाने वाले भगवान यहाँ टीकाकार कहते वेदांत है ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन उसको बनाने वाले जो व्यास है वो व्यास परमात्मा ही व्यास रूप ही होते है कोई अन्य पुंडरी का अक्ष हो अपुनरिकाक्षात महाभारत कृत भवेत महाभारत की रचना करने वाले कौन दूसरा हो सकता है विष्णु भगवान के बिना सारे महाभारत की रचना करने में व्यास जी कहे कोई अन्य पुंडरीकाक्षात महाभारत कृत भवेत अन्य कौन हो सकता है महाभारत जो ग्रंथ है कोई पाश्चात्य दार्शनिक उसको पढ़ करके कहते ये जी सत्य है तब तो बहुत आश्चर्य की बात है और यदि सत्य नहीं किसी ने अपने बुद्धि से कल्पना करके लिखी है रचना की तो उसे और आश्चर्य है सत्य है जितने आश्चर्य है यदि महाभारत सत्य नहीं किसने इतने विचार करके लिखा है तो और आश्चर्य इसे मन इस में इसे बुद्धि हो सकती इतने रचना करने का महाभारत ग्रंथ में जितने सब आया सब राजनीति धर्मनीति ज्ञान सब कुछ है कितने कितने सब है कैसे कैसे है किसके पास कैसे वर है किसके पास कैसे अस्त्र है क्या उनके कोई इच्छा मृत्यु हो कोई नहीं मरना कोई क्या कैसे सुबह युद्ध होकर कोई मरता कोई ना कोई हारना ये सब जितने सब है कितने कितने आरंभ से अंत तक कितने बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहेगा विष्णु सहस नाम केवल एक पढ़ करके एक एक नाम का क्या अर्थ क्यों क्यों नाम हुआ महा विष्णु सहस नाम भाष्य है उसको पढ़ करके याद करके रख ले नाम का पाठ तो कर लेते हैं ये नाम क्यों हुआ ये सब भी कारण है वो भी कहानी याद रहता है इसे सारे ग्रंथों को रचना करने वाले भी बड़े आश्चर्य है इसलिए जो वेदांत बनाने वाले व्यास जी पर ब्रह्म से वेदांत कृत वेद विदेव चाह वही वेदांत कृत वेद को जानने वाले मैं ही हूँ वास्तव वेद को जानने वाले पर ब्रह्म है और जो जान लेता है वेद के अर्थों को वह पर ब्रह्म स्वरूप है वेद ही अनेक ही रहमे वेद्य वेदे ऋगादि भी अनिकेर ऋग जो साम तीन वेद है और उसका विभाजन कर अथर भी हुआ ऋग यजुसाम वेद का भी नाम है और मंत्रों का भी नाम है ऋग मंत्र कहते श्लोकात्मक सर्वपाद में समान अक्षर होगा नियत पादावसाना मंत्र ऋचा है ऋ कहते ऋचा कहते यजु है गद्यात्मक गद्यात्मक जहाँ श्लोक नहीं यजु है और शाम होता है स्वर है ऋचा में आरूढ़ करके शाम का गान किया जाता है ये तीन प्रकार मंत्र ऋग वेद में ऋचा भी है यजुर भी है शाम भी है इसी प्रकार यजुर्वेद में खाली यजुरात्मक मंत्र ऐसा नहीं ऋगात्मक मंत्र भी है शाम भी है इसी प्रकार सौ वेद में सौ प्रकार मंत्र होता है किंतु वेद तीन वेद त्रय कहते वेद त्रय और अथर्वेद हुआ अनेक ही शाखा अनेक होने से वेदेर अनेक हो गया शाखा एक हजार एक सौ अस्सी शाखा है अहम एवं वेद्य सब शाखा में ज्ञान कांड है उपनिषद वो एक, एक ही तत्व प्रतिपाद्य है सब में वेदांत अनेक बहुवीर अहम एवं वेद अहम एवं रूप चेतन ब्रह्म सब का अधिष्ठान ब्रह्म अभिन्न प्रत्येगात्मा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वेद्य प्रतिपाद्य सारे वेद के द्वारा वही प्रतिपाद्य है वेदांत कृत का अर्थ वेदांत सूत्र कृत ब्रह्मसूत्र छः दर्शन है आस्तिकों के दर्शन न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा है वेदांत व्यास जी के द्वारा तो वेद व्यास रूप वेदविद वेदांत कृतो विशेषणम वेदविद वेद को जानने वाले कौन है वेदांत कृत वेदांत कृत का विशेषण दिया वेदविद वेद को जानने वाला वेदाना नाम सांख्य विद्यास्थान नाम वेत्ता वेदविधि सैव नत्वन्य वेद को जानने वाला वेद को जानने का अर्थ कहेंगे अंगों के साथ अंगे ही सहित सांगा वेदा तेसाम अंग कितने है छह अंग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत्त छंद ज्योतिषम क्या श्लोक है

हस्त कल्पो अथ हस्त है कल्प कल्प हस्त कल्प अथ कल्प है शिक्षा कल्प छंद कल्प आगे ज्योतिषामयनम ज्योतिषात्र चक्षु ज्योतिषामयन चक्षु निरुतम श्रोत्र निरुत श्रोत्र और शिक्षा घ्राणम शिक्षा है घ्राणम तो वेद से मुखम व्याकरणम ये छह अंग है सारे अंग के साथ वेद का अध्ययन करना है अंगों के साथ वेद का अध्ययन करना है और उसके साथ साथ सांख्य विद्यास्थान नाम सांख्य भी है और विद्यास्थान है धर्म शास्त्र पुराण तर्क मीमांसा धर्मशास्त्र पुराण तर्क मीमांसा ये सब है धर्मशास्त्र पुराण तर्क मीमांसा चार हो जाएगा ये सब मिला करके सांख्य योग मिला करके सब विद्यास्थान नाम वेत्ता वेदविति सबको जानने वाला सही एवं न तो अन्य च शब्दात अनेक तप संपन्न चाहम व्याख्यातम तप से युक्त तप करने वाला भी वही तप है ब्रह्म स्वरूप है तप है परमात्मा का आत्मा अनेक विभूतिमत सत्यसु इदमेव प्रधानमित उत्तम विभूति वाले ऐश्वर्य वाले जितने हैं स्वामी यही प्रधान है पर ब्रह्म अहम प्रधान न पुण्य पापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रिय न भूमिरापो मम बन्नीरस्ति न चा नीलोमेस्ति न च आत्मा में पुण्य पाप का संबंध ही नहीं होता है न पुण्य पापे पुण्य पाप का संबंध नहीं देह इंद्रिय मन से कर्म होता है कर्म का संबंध जिसके द्वारा कर्म होता है कर्म का फल भी उसमें भोग होगा और पुण्य पाप उसमें रहेगा आत्मा तो निष्क्रिय है आत्मा से कोई कर्म होता नहीं तो देह इंद्रिय आदि के कर्मों का आरोप करते आत्मा में क्योंकि आत्मा और अनात्मा का तादात्माध्यास भ्रम होता है अंतकर्ण में आत्मा का तादात्माध्यास होकर के अंतकर्ण के द्वारा सारे देह में अहम बुद्धि इसलिए जो कर्म होता है शरीर से अहम करता शरीर इंद्र मन से कर्म होता है इसमें कर्तृत्व तो बुद्धि हो करके पुण्य पाप आरोप होता है कर्म होते हुए भी देह आदि के कर्म को आत्मा में आरोप करते हैं नौका में चलते हैं देखते पेड़ चलते हैं ये सबको अनुभव गाड़ी में बस से चलो ट्रेन से चलो स्वयं चल दौड़ते हैं दिखता है बाई तरफ डाने तरफ खंभा दौड़ते हैं पेड़ दौड़ते हैं कभी कभी अपने स्वयं स्थिर है स्टेशन में दूसरे बगल वाला ट्रेन चलने लगा तो भ्रांति होती कि हमारा ट्रेन चल गई कोई नीचे गया तो डर जाते बड़े बड़े लोग अरे बोलो बोलो कहाँ चला गया अपने स्थिर है दूसरे ट्रेन चलने पर लगता है कि अपने ट्रेन चल गई ऐसे एक बार तो आ जाता है झट गई अरे फिर जा देखा नहीं हमारे ट्रेन स्थिर है दूसरी जा रही इसी को ही बताया कर्मण्य अकर्मय पशेत अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्य सु सयुक्त न कर्म कृत भगवान ने कहा गीता में बड़े तात्पर्य उसमें है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख ले वो बुद्धिमान मनुष्य सु कर्म में अकर्म मतलब रज्जु में जैसे सर्प दिखते रज्जु में सर्प का क्या अर्थ है मालूम है रज्जु के ऊपर सर्प बैठा है या सर्प के ऊपर रज्जु है रज्जुआम सर्प सौतो रजतम नीचे सुक्ति ऊपर रजत ऐसा ये सप्तमी विशेष सप्तमी रज्जुआम सर्प का तो रज्जु को सर्प समझा विचार करने वाले कहते रज्जु में सर्प दिख रहा है रज्जु को ही सर्प समझा मरुह में जल दिखता है मरुभूमि में नीचे ऊपर जल ऐसा नहीं वो जल ही जल देखता है मरुभूमि में देखेगा फिर जल देखेगा रज्जु देखेगा फिर सर्प देखेगा ऐसा नहीं रज्जु को ही सर्प समझता है तो भगवान कहते कर्मणि अकर्म या पश्चित कर्म को जो अकर्म समझे अकर्म को जो कर्म समझे भगवान कहते वही बुद्धिमान है क्या समझना कर अकर्म को कर्म अभाव को कर्म समझो और कर्म को कर्म अभाव समझे कहते सब बुद्धिमान मनुष्य सु सयुक्त कृष्ण कर्म करते उसको समझने के लिए ही वेदांत तत्व उसमें है देहादि में कर्म होता है आत्मा में नहीं है कर्म अभाव देखे देहादि में कर्म होते हुए आत्मा में कर्म का अभाव देखे और कर्म अभाव में कर्म देखना जो अज्ञानी है देहादि में कर्म करते समय मानता है मैं करता हूँ और कभी ध्यान में बैठ गया देह इंद्र मन स्थिर हो गया क्या सोता है मेरे में कोई कर्म नहीं अभी देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करना यथार्थ भ्रम है देहादि के कर्म के अभाव का आत्मा में आरोप करना आत्मा में कर्म है नहीं उसको नहीं समझ करके देह इंद्र को स्थिर कर बैठ गया सोचना बंद कर दिया अभी देह इंद्रिया आदि में कर्म का अभाव हुआ उस अभाव का आत्मा में आरोप करता है आत्मा जो निष्क्रिय उसको नहीं समझ करके देहादि के कर्म के अभाव को ध्यान में बैठ गया चिंतन छोड़ दिया बैठ गया देहादि में कर्म भाव कहता है नहीं वह किंचित कर्म कुछ नहीं करता हूँ देहादि के कर्म भाव का आत्मा में आरोप करता है जब देहादि में कर्म होता है उसमें आत्मा निष्क्रिय रहता है क्या देहादि में कर्म होने पर भी आत्मा में कर्म भाव उसको नहीं समझ करके देहादि कर्म को समाप्त कर दिया कहता है मैं निष्कर्म हो गया देहादि के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है ये आरोप ही करता है ये कर्म है नहीं तो कर्माभाव में कर्म देखे और कर्म को अकर्माभाव समझे तो आत्मा में कर्म है ही नहीं देहादि में कर्म है उसका अभाव आत्मा में देखे है ही नहीं कर्म पुण्य पाप आदि कहाँ से आत्मा में आएगा असंग है उसके संबंध नहीं श्रुति में कहा गया स्वप्न में कोई देखता है पुण्य पाप कर्म किया जगने के बाद अपने को मानता है मैं पुण्य कर्म करने वाला हूँ पापी कोई मानता है सपने में किसको कोई मार दिया धक्का दिया गिर गया मर गया जगने के बाद मानता है मैं इसको मार दिया करके ना ना कोई मरता है सपने किसको धक्का दिया मर गया जगने के बाद वो व्यक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा मर गया ना सपने में <laughs> सपने में तो मरा हुआ व्यक्ति भी सामने आ जाता है <laughs> उसे बातचीत करते हैं और जो जिंदा है वो उसको मार दिया धक्का दिया गिर पड़ा मर गया उठने के बाद मानता है मैं पापी हूँ कुछ नहीं अनन्वागत न भवती पर सपने में क्या हुआ पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं आत्मा असंग है इसलिए पुण्य पाप आदि कुछ संबंध है ही नहीं आत्मा में नास्ति न नास्ति नाशो न नाश भी नहीं जन्म भी नहीं और इंद्र बुद्धि रस्ती ना न इंद्र बुद्धि भी नहीं देह में अहम बुद्धि तो सबसे और अधिक है और मेरा देह माना ये भी कम नहीं है देह आपका नहीं जिसको हम देखते हैं वो मेरे से भिन्न है और वो मेरा धर्म है इसमें जो दिखता है इसमें जो गंध है रूप है वो आप है आपका धर्म है ये रूप आप में है जो शुक्ल वस्त्र पहने ये रूप उनमें है ना नहीं ये शुक्ल रूप आपके पट में शुक्ल रूप है क्या अलग अलग है अलग है तो ये आपका धर्म नहीं आप नहीं आपका धर्म नहीं इसी प्रकार ये आपका है क्या जिसको देखते आपके साथ उसका कोई संबंध नहीं है आरोपित करके देखते है देह आप नहीं देह भी आपका नहीं है सुख दुख आप है क्या आप सुख है या दुख है सुख दुख आप नहीं सुख दुख आपका धर्म भी नहीं है इसलिए देह इंद्र बुद्धि भी नहीं है वो देह इंद्र बुद्धि तो अध्यस्त है अपने आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं मिथ्या है सदरूप ब्रह्म है असंग उसके साथ के भी कोई संबंध नहीं देह इंद्रिया भी मिथ्या से आरोप करके मेरा मेरा मानता है देह इंद्र नहीं तो देह इंद्र अभाव क्या क्यों तो आकाश पृथ्वी जल तेज वायु तो सब रहेगा ये भी कुछ नहीं आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं न भूमि आपो जल नहीं मम वनिरस्ती मम नास्ती मम नास्ती मतलब अन्य का है पृथ्वी जल तेज आपका नहीं दूसरे का है देह आपका नहीं दूसरे का ऐसा है क्या दूसरा कोई है ही नहीं एक अद्वितीय तो तत्व है उससे भिन्न पृथ्वी जल कुछ है ही नहीं न च अनिल वायु नहीं न च अंबरम आकाश भी नहीं कुछ नहीं है आत्म तत्व से भिन्न कुछ में तभी बनेगा सर्वम खलुदम ब्रह्म यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ मानेंगे तो सर्वम ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं वासुदेव सर्वम सर्व ब्रह्म और अनंतम ब्रह्म ब्रह्मे वेदम बहुत श्रुते ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है इसलिए सब कुछ मिथ्या होने से कुछ भी नहीं हो जाएगा सारे प्रपंच दिखता है कहते कुछ नहीं है नहीं कैसे दिखता है नहीं कैसे ये संभव होगा जो दिखता है वो नहीं है जो दिखता है वो नहीं है और जो नहीं दिखता वही है जो नहीं दिखता वही है और जो दिखता है वो नहीं जैसे स्वप्न में जो दिखता है वो है ही नहीं जगने पर नहीं रहता है यदि होता तो जगने को रहना चाहिए हाथी देखा पेड़ पौधे और भूखा था भोजन कर पेट भर भोजन कर लिया जगने के बाद हाथी कितना रहेगा कमरा में और दस रसगुल्ला खाया था जगने के बाद कितना रहेगा पेट में कुछ टुकड़ा भी नहीं गया फिर जैसे भूखा ऐसे भूखा है भूखा था सो गया नींद आ गई और देखा कि बड़े सो बहुत भोजन खाए पेट भर जगने के बाद भूख तो नहीं लगी ना पूरा पेट भर खाए था तो भी लगेगी ये कुछ भी नहीं है सपना प्रपंच जैसे जो दिखता है कुछ भी नहीं है जो दिखता है कुछ नहीं है और जो सपन देखने वाला जगने के बाद वो रहता है कहता मैंने सपन देखा वो देखने वाला जो सपन देख रहा था जगने के बाद कहता मैंने सपन देखा वो दिखता था सपन में जो स्वप्न कहता है मैंने स्वप्न देखा वो दिखता था नहीं स्वप्न में आपका सर्व स्वप्न में था या नहीं ये जो जागृत है ये सर्व स्वप्न में दिखता था या नहीं दिखता था आपका सर्व नहीं नहीं दिखता था स्वप्न में जो सर्व कल्पित अलग सर्व ये शरीर तो इसे रहता है इसलिए वो स्वप्न कल्पित सर्व वो भी नहीं रहता है जो दृग रूप चतन वही केवल रहता है जो स्वप्न का दृष्टा वही रह जागृत में जो जागृत अवस्था में रहता है सपन अवस्था का क्या रहता है जागृत अवस्था में दृग दृष्टा रहता है सपनों का साक्षी रहता है वही कहता है वही है सत्य और सब मिथ्या है अर्थात सपने में देखो जो दिखता है सब मिथ्या है और जो नहीं दिखता है दृग रूप चेतन वही सत्य है जो तीन अवस्था में रहता है वही सत्य है तीनों अवस्था में रहने वाला किस समय दिखता है बताओ दिखता है तीन अवस्था में रहने वाला दीर्घ रूप चेतन दिखता किस समय हो दिखता नहीं जो दिखता है वो नहीं रहता है कोई मिथ्या है जो देख जो नहीं दिखता है सत्य वही है इसलिए ये सब जितने पदार्थ दिखते सब मिथ्या है न पुण्य पापे मम न स्पृशत शेष पुण्य पाप स्पर्श नहीं करते ही नास्ति नाश नाश कहते विनाश न विद्यते ममित अनुसंग बोलो पाठ चलता है थोड़ा इतने तो मालूम नहीं चलो कुछ बैठ बैठ कर सुनेंगे उनको पता नहीं चल रहा है कि पाठ चलता है चलता है किंतु बात करने का समय नहीं मिलता है पुण्य पाप का स्पर्श नहीं होता है आत्मा असंग है नास्ति नाश विनाश न विद्यते मम चिद्रूप से न में जन्म आगे कुतो मृत्यु जन्म नहीं तो नाश कैसे मृत्यु कैसे उसका ना उत्पत्ति नहीं नाश नहीं कुछ नहीं पुण्य नहीं पाप नहीं न नाश नाश और चिद्रूप का नाश नहीं और जो मिथ्या रूप वो दिखता है उत्पत्ति नाश क्या है न जन्म जनि न ममा अनुसंग जन्म भी नहीं देह इंद्र बुद्धि देहश्च इंद्रियाणी च बुद्ध देहेन्द्र बुद्धिर्नास्ति कुछ नहीं है न विद्यते मम न भूमि आपो मम पृथ्वी शोधका शोधका क्या है उदक न सहित शोधका उदक के साथ शोधका क्या है शोधका का जल है नहीं हैं स्थिति शोध का मम नास्तित अनुसंग शोध का क्या पदार्थ है वायु को शोध का कहते कोई बताओ शोध का क्या है शोध का उसके पहले क्या कहा पृथ्वी है शोध का <laughs> शोध का शब्द का था उदकन सह इतने तो मालूम हो गया उदकन सह क्या है किसको शोध का कहेंगे पृथ्वी को पृथ्वी शोधका मम नास्ती का कौन हो गया पृथ्वी उदक न सह पृथ्वी पृथ्वी शोधका अन्य पदार्थ शोध का उदक न सह बहुब्री अन्य पदार्थ क्या है पृथ्वी है मम नास्ती अनुसंग वन्नी प्रसिद्ध नास्ति वन्नी तो प्रसिद्ध है नास्ति न विद्यते मम न च अनिलो मे अस्ति वायु में नहीं है वायुरपे मम न विद्यते और चकार दिया है न चाबरम च चकाराद वायव्य कार्यमपि न वायु वायु के कोई कार्य प्राण कुछ आदि प्राणापान आदि वायु का कार्य विकार कुछ भी नहीं है न चाबरम च आकाशमपि मम नास्ती अनुसंग आकाश भी नहीं है मम मतलब मेरे में दिखता है सब कुछ कुछ है ही नहीं चकार द्वयम आकाश कार्य तद व्यतिरित अनुत अभावार्थम आकाश कार्य तद व्यतिरित अनुत अभाव जो नहीं कहे गए वो कोई रह जाएगा चकार दो दिया आकाश कार्य से भिन्न अन्य कोई पदार्थ रह जाएगा ये तो अनुत जितने कोई कुछ भी नहीं अनुत के अभाव कथन करने के लिए उक्त तो कुछ नाम ले लिया ये नहीं है ये चार पांच पदार्थ नहीं उससे भिन्न कुछ रह जाएगा कुछ भी नहीं है सबका अभाव है नेह नानास्ति किंचन वही है यह ब्रह्म में नाना है ही नहीं अध्यस्त वस्तु के अभाव हो जाएगा तो अधिष्ठान रहेगी वस्तु रहेगी अधिष्ठान ही एक आत्म तत्व है बाकी सबका निषेध हो गया अधिष्ठान फिर कौन है वो अधिष्ठान कहाँ है अधिष्ठान ही है अधिष्ठान का आश्रय क्या होगा उसका कोई आश्रय होगा तो अधिष्ठान नहीं बनेगा स्वयं महिमनी स्वरूप तो वही है उससे भिन्न कुछ भी नहीं तो उसका आश्रय कौन होगा वो अधिष्ठान ही है अध्यस्त वस्तु सबका अभाव है एक अद्वितीय तत्व है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है अभी उसके ज्ञान ही चाहिए अच्छा अद्वितीय यदि आपका स्वरूप है अज्ञान अवस्था में आपका स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है क्या है ज्ञान होने के बाद रहेगा ज्ञान की क्या आवश्यकता है तो अपना स्वरूप तो पहले से भी है क्या करने के लिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए अज्ञान कोई वास्तव है क्या तो उसको निवृत्ति क्यों करना अज्ञान वास्तव नहीं अज्ञान का निवर्तक ज्ञान तो वास्तव है नहीं अज्ञान जैसे कल्पित है ऐसे कल्पित ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति से नष्ट होगा अज्ञान वास्तव नहीं अज्ञान कार्य वास्तव नहीं ये यदि निश्चय हो गया कब निश्चय होगा अज्ञान निवृत्ति के बिना निश्चय नहीं होता है समझ लिया परोक्ष से अज्ञान नहीं है वास्तव ठीक है किंतु अज्ञान की निवृत्ति के बिना वो भ्रम निवृत्ति नहीं होती है अज्ञान है भ्रम का कारण जब तक अज्ञान है तब तक भ्रम होगा सुश्रुति अवस्था में भ्रम नहीं रहा प्रलय में नहीं रहा फिर आगे अज्ञान कारण है तो फिर ये सृष्टि हो जाती है वही अज्ञान से ही बंध है अविद्या ही बंधन है बंध का कारण है और उसका नाश हो गया निवृत्ति हो गई तो मोक्ष है और निवृत्ति कैसे होगी विद्या ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति कभी नहीं होगी रज्जु का अज्ञान से सर्प दिखता है किसे सर्प दिखता है रज्जु के अज्ञान जो सर्प दिखता है उससे अज्ञान की निवृत्ति रज्जु ज्ञान के बिना और किसी से नहीं होगी भ्रांति कल्पित सर्प को भगाने के लिए सब लोग मिलकर मृदंग बजाएंगे तो जाएगा चलेगा रहेगा जोर से चलाएंगे भ्रांति कल्पित सर्प नहीं जाएगा इस जिसका प्रकार प्रकाश नहीं अंधकार को भगाने के लिए सब लोग को चिल्लाओ को बजाओ शीर्षासन करो प्राणायाम करो अंधकार न चल जाएगा एक प्रकाश से चल जाएगा इसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद ज्ञान तो रह जाएगा जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान वो रहेगा नष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान ही नष्ट होगा तो ब्रह्म ज्ञान अनित है तो ज्ञान होना मुक्त हो गया फिर थोड़ी देर के बाद ज्ञान भी चला गया तो फिर बंधन <laughs> ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर बंधन हो जाएगा ना नहीं ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान अनादिकाल से था वो नष्ट हो गया विभेद जन के ज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मण भेदम असंतम कह करिष्यति विभेद जनक है अज्ञान भेद करने वाले कौन है अज्ञान वो ज्ञान से नाशम आत्यंतिक अत्यंत नष्ट हो गया ज्ञान से ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मा और ब्रह्म का जो भेद है वो वास्तव है क्या तो उसको फिर कौन करेगा अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम कह कर तो भेद वास्तव है क्या सदरूप है क्या सदरूपे तो रहेगा हमेशा जो भेद नहीं है तो उसको फिर कौन करेगा अज्ञान से भेद दिखता था आगे कौन करेगा रज्जु के अज्ञान से ही सर्प दिखता अज्ञान नष्ट हो गया रज्जु को देखे लिया आगे सर्प कहाँ से आएगा बच्चा उसको देखा कर डराता है दूसरे को सर्प सर्प कह करके वो खेलता है वो जानता है साप नहीं अन्य लोग को क्या कहता है साप दिखाता है वो जब ज्ञान हो जाए तो आगे अज्ञान अज्ञान अनादि अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ना नहीं घट उत्पत्ति के पहले घट का प्राग अभाव था घट उत्पत्ति के पहले घट था क्या घट का अभाव था घट अभाव को क्या कहते प्राग अभाव पहले अभाव है उत्पत्ति के पहले घट बनने के बाद प्राग भाव रहेगा घट बनने के बाद प्राग भाव नष्ट हो गया अभी प्रागभाव नष्ट हो गया घट है तो प्रागभाव नहीं घट को तोड़ सकते हैं क्या घट को तोड़ देंगे तो फिर घट का प्रागभाव हो जाएगा घट को अभी बोलो बोलो इधर बोले घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा बोलो सोच कर घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा नहीं होगा नहीं होगा <laughs> घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा क्या अभाव नहीं होगा हाँ, नहीं तो अपने पट फाड़ कर देखो पट को फाड़ दो अभाव है नहीं देखो घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा हाँ वो प्रागभाव उत्पन्न हो गया ना नहीं वो प्रागभाव नहीं वो प्रागभाव नहीं प्रागभाव तो घट उत्पत्ति के पहले जो अभाव उसका नाम प्रागभाव घट तोड़ने के बाद तो घट का अभाव होगा है उसको क्या कहेंगे ध्वंस प्रध्वंस अभाव प्रागभाव नहीं घट नष्ट होने पर भी प्रागह की उत्पत्ति नहीं होती है अज्ञान इस प्रकार अनादि है अनादि की उत्पत्ति होती है क्या नहीं होती जो अनादि है अज्ञान उसकी उत्पत्ति कभी हुई या नहीं हुई कभी ना कभी तो हुई होगी हम्म। कभी ना कभी यदि उत्पत्ति होती है तो अनादि उसको कहा जाएगा कभी ना कभी कभी उत्पत्ति है ही नहीं अनादि है और अनादि की उत्पत्ति हो जाएगी अनादि अज्ञान की निवृत्ति हो गई ज्ञान से ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया फिर ज्ञान यदि नष्ट हो जाएगा तो फिर अनादि अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ना नहीं हम्म क्या <laughs> उत्पन्न नहीं होगा ज्ञान जिससे अज्ञान नष्ट हो गया था और ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान हाँ? नहीं अज्ञान अनादि तो अनादि उत्पत्ति कैसे होगी और वास्तव नहीं है अब ज्ञान होकर के ब्रह्मा ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर दिया अपने स्वरूप स्थित हो गया और कुछ ही नहीं कुछ करने का नहीं इसका स्वरूप ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर कृतकृत्य हो गया और कुछ करने का नहीं ना कुछ करने का है ना कुछ प्राप्त करने का है कुछ नहीं कुछ छोड़ने का है छोड़ने का भी नहीं है ये प्राप्त की प्राप्ति और परिहृत से परिहार अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है ज्ञान से जो प्राप्ति होती प्राप्त की प्राप्ति सामने यदि देखा कोई वस्तु है ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया प्राप्त नहीं हुआ सामने है भोजन सामने है देख लिया तो प्राप्त हो गया भोजन <laughs> उसको हाथ से लेकर के मुख्य दांत से चबा कर खाना पड़ेगा और दांत नहीं तो नारियल सामने प्राप्त हो गया <laughs> दांत नहीं नारियल रखा गया <laughs> प्राप्त हो गया और हाथ से उठाना पड़ेगा लेकर चबा कर खाओ तो अंदर हुआ तो पुष्प सामने है तो हाथ से उठाओ तो आएगा वास्तव कोई अपने से भिन्न वस्तु है सो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होगी तो क्रिया करने क्रिया से ज्ञान मात्र से प्राप्त नहीं और जो प्राप्त है गले में माला है उसको यदि जान लिया देख लिया गले में माला है पता चल गया उसको प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा पैर बढ़ाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कुछ चाहिए चामच चाहिए चक्कू चाहिए कुछ करना चाहिए कुछ नहीं प्राप्त हो गया जो वस्तु प्राप्त है उसको ज्ञान मात्र से प्राप्ति होगी उसको कहते प्राप्त की प्राप्ति प्राप्ति क्या गौण प्रयोग है प्राप्त की प्राप्ति परिहृत से परिहार जो हाथ में कुछ मैला लगा उसको धो दिया तो साफ हो गया धोना पड़ेगा और भ्रम हो गया माला है भ्रम हो गया कोई साफ आ गया गले में चलते समय पैर में कुछ लग गया रस्सी भ्रम भ्रम हो गया सर्प है अभी सर्प को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा यदि मालूम हो गया राज्य में सर्प है तो सर्प कितने समय रहेगा सर्प रहेगा वो कहते परिहृत से पर सर्प चला गया सर्प था क्या पहले से सर्प नहीं था भ्रम हो गया सर्प भ्रम और रज्जु जान लिया रज्जु है सर्प नहीं तो सर्प परिहार सर्प का परिहार ज्ञान मात्र से परिहृत का परिहार हुआ अपरिहृत है तो यदि कोई कुछ कीड़ा यहाँ आ गया देख लिया तो चला जाएगा कीड़ा उसको फिर फेंकना पड़ेगा और परिहृत यदि सर्प है ही नहीं रस्सी सर्प भ्रम हो गया देख लिया रस्सी तो सर्प को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं सर्प चला गया इसी प्रकार ये अज्ञान सुख दुख जितने है वस्तु तो आत्मा में है ही नहीं ज्ञान होने पर उसका परिहार हो गया परिहृत से परिहार और प्राप्त से प्राप्ति स्वरूप अपना स्वरूप अज्ञान अवस्था में रहता है अज्ञान अवस्था में स्वरूप कहाँ चले जाता है सर्व का कुछ बिगड़ जाता है कुछ कुछ नहीं अज्ञान हो गया तो इसलिए आत्मा में ना तो कुछ सुधार करना है ना कुछ साफ करना है ना कुछ प्राप्त करना है ना किसका त्याग करना है हेय नहीं उपाधेय ग्राह्य नहीं त्याज्य नहीं ज्ञान हो गया तो सब कुछ हो गया कृतकृत्य हो गया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है मिथ्या वस्तु को छोड़ना है सत्य वस्तु को प्राप्त करना है जानना है हाथ साफ है महिला उसमें लग गया महिला को हटाना पड़ेगा महिला को हटाने पर हाथ को साफ करना क्या है महिला हट गया तो साफ है इसी प्रकार झूठे अज्ञान अज्ञान कार्य मिथ्या मिथ्या को हटाने के लिए भी कुछ करना नहीं मिथ्या समझ लिया तो हट गया जो रज्जु में सर्प भ्रम हो गया पैर में सर्प आ गया करके सर्प मिथ्या हो गया तो सर्प हट गया इसी प्रकार ये सारे अज्ञान प्रपंच कार्य मैं मिथ्या तो बुद्धि कर दे तो हट गया यही करना पड़ता है हटाना नहीं प्रपंच को कहाँ हटाना कहाँ फेंकना कहाँ जाना है ही नहीं प्रपंच मिथ्या समझ लिया मरुभ में जल है नहीं तो जल को कहाँ हटाना इसी प्रकार निश्चय हो गया है मेरे से अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रूप से न मे जन्म कुतो मयो मृत्यु कैसे जरा क्या है व्याधि रोग कुछ है ही नहीं मेरे से भिन्न कुछ भी है ही नहीं तो क्या करना ज्ञान हो गया तो और कुछ करने का नहीं ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए भी मिथ्या कल्पित वस्तु में जो ममत्व है अहंत ममत्व को छोड़ना झूठे अहंता ममता कर रखा है अपने शरीर से भिन्न कोई अपना है ही नहीं उसमें मेरे मेरा मेरा देह संबंधी मेरा देह भी अपना नहीं है देह को मैं मानकर बैठा है देह भी मेरा नहीं कितने समय देह रहेगा एक क्षण में चला गया तो देह देह सड़ गया गंदा हो गया फिर उसमें मैं मेरा मेरा मेरा ये जो झूठे में ममत्व तो बुद्धि उसको छोड़ना अच्छा कि छोड़ने पर क्या हानि है झूठे को मेरा माना उसको छोड़ दें तो क्या हानि है ना नहीं सत्य वस्तु को यदि छोड़ दिया तो हानि है झूठे वस्तु को छोड़ दिया तो क्या हानि है हाथ में रखा है सपने में लड्डू भूख लगता है और जगने के बाद लड्डू नहीं रहा कितना हानि बताओ हानि है ना नहीं है लड्डू दो लड्डू थे उस जगह देखो एक भी नहीं रहा हानि है ना नहीं झूठे वस्तु के जाने पर हानि नहीं सपने के बाद जग करके कोई रोता है इतने बड़े मकान मेरा था इतने भोजन मेरे साथ पास में था जग गया भूखा मैं हूँ चला गया कहाँ भोजन रोता है थोड़ा कुछ नहीं कुछ करना नहीं है झूठे वस्तु को छोड़ना सब झूठा कौन है आपसे भिन्न सब मिथ्या है अपने से बिना सब मिथ्या है मिथ्या में अहंता ममता छोड़ना और उसमें राग द्वेष क्यों करना झूठे वस्तु में शत्रु मित्र राग द्वेष ऐसे करके ही झूठे में झूठे में चलता है और उसमें फिर एक माया से भ्रांत हो करके तो स्वयं भटक रहा है और उससे में दूसरे को ठगना चाहता है जादू देखा करके <laughs> दूसरे को ठगना चाहता है स्वयं ठगा हुआ है झूठे भटक रहा है उसमें फिर दूसरे को ठगना चाहता है दूसरे धन लेना चाहते है दूसरे से सम्मान लेना चाहता है जो अपने मरण कब आएगा पता नहीं एक क्षण में क्या हो जाएगा पता नहीं धन संपत्ति इकट्ठित तो बहुत कर लेते हैं जाते समय कितने अंश उसका लेते हैं सौ रुपया में एक रुपया आधा चौथाई कुछ लेकर जाते हैं कुछ नहीं कुछ लेना लेना नहीं झूठे प्रपंच में अहंता ममता छोड़ करके यही शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व है उसमें स्थिर होना झूठे प्रपंच में राग द्वेष छोड़ करके उसमें चिंतन छोड़ करके सब बस मिथ्या तो बुद्धि करना बार बार और कुछ नहीं जो दृग्र पचंतना सो हम अस्मी श्लोक बोलो अहम अस्मी परम ब्रह्म अहम अस्मी हाँ बोलने वाले काम उसमें कुछ कुछ देकर बोलते हैं <laughs> कंठस्थ नहीं हुआ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न